लंकेश हरण तूने जन जा कान किया है लंकेश हरण तूने जन कात्मजा कन की है करनी जान के से हो कर करने अजान के से होकर सुजान की है लंके हरण तूने जनक जनकात्म जाकिन की है करणी अजान की सी होकर सुजान की है लंकेश हरण तूने जन कात्म जाकिन की है आया है लेने बदला आया है लेने बदला ऋषि रक्त इस बहाने यह जान ले घड़ी अब लंका के जान की है लंकेश हरण तूने जनकात्म किन की है आजान भुजाओ ने जब शिव का धनुष तोड़ा भुजाओ ने जब शिव का धनुष तोड़ा क्या सकते उनके आगे बीसों भुजाओं की है कर अजान की सी हो कर सुजान की है पर नार को चुराना है मौत को बुलाना मत खेल समझ इसको बाजी जान की है लंकेश हरण तूने जनकात्मजा जाकिन की है घट घट में है जो व्यापक रक्षक वही है मेरा घट घट में है जो व्यापक रक्षक वही है मेरा है जानकी के रघुवर रघुवर के जानकी है है जान की के रघुबर रघुबर की की है रघुबर की की है रघुबर की की है लंकेश हरण तूने जनकात्म की है करने अजान की सी हो कर सुजान की है हो कर सुजान की है यह सुनते ही हो गया दस मुख फिर विकराल खडगताल संघार को दौड़ पड़ा तत्काल बोला देखूं तो सहे करता कौन सहाय घट घट व्यापक है कहा अभी प्रकट हो जाए जभी तोल तलवार को धाया राक्षसनाथ सर्वेश्वर कह ने झुका दिया निज बात घट घट व्यापक ने दिया परचय वही तुरंत मुख से मंदोदरी के बोला वह भगवंत ठहरो क्या कर रहे हो अनुचित है यह नाथ इतना कह पकड़ा तुरंत पीछे से हाथ रानी ने जब समझाया तो आया विचार कुछ राजा को जाते जाते निश्चर्यों से बोला कि सताओ सीता को देता हूँ समय तीन दिन का तब तक न उचित उत्तर होगा तो करने का फल पाएगी यह खड्ग और वह सर होगा मन ही मन उधर कहा कपिने माँ का न मलिन अंचल होगा उसके पहले मेरा मुष्टिक तेरा वह वक्षस्थल होगा तरवर यशोक के बोल उठे हम उससे प्रथम उजड़ते हैं लंका के महल लगे कहने उसके पहले हम जलते हैं तिजटा नाम निश्चरे थे चतुरा अत्यंत चला गया दस शेष तो वह कह उठी तुरंत निश्चर्यो सुनो ध्यान पूर्वक जो कुछ भी है सपना मेरा मानना पड़ेगा अब तुमको आदेश और कहना मेरा मैंने सपने में देखा है दस कंधर का संहार हुआ लंका पर भक्त विभीषण का राजा जैसा अधिकार हुआ बंदने आज है राम प्रिंस प्रिया कल सम्राज्ञी कहलाएगे हम कष्ट इन्हें देंगे तो यह बदले गंभीर चुकाएगी इस कारण मैं यह कहते हूँ लग जाओ इनकी सेवा में सज्जनता सदा लाभ देती है हानि दुष्टता में असुरा त्रिजटा के मुख से भी जब प्रकट विश्व आधार हुआ रजनिचर्या सेविका बनी कपिवर को हर्ष अपार हुआ चली गई सब राक्षसी निज निज गृह की ओर तब तेटा से जान की बोली यो कर जोर तू मेरी माता धर्म की है मन के मैं तुझसे कहते हो पतिवीर विपत सहते सहते जीते जे पूर्ण मर चुकी हूँ अब इस शरीर के ढांचे को कर डालो भस्म यही अच्छा दो पक्ष नहीं दो घड़ियों में तज दूँ यह प्राण तभी अच्छा लकड़ियाँ बीन मैं लाते हूँ तो भी कुछ मुझे सहारा दे मैं चिता बनाए लेते हूँ जा आग कहीं से तू ला दे चिता ने देखा जबे इतना दारुण ताप समझाया रघुनाथ को उनका प्रबल प्रताप मिथिलेश ने धीर धरो क्यों इतने व्याकुल हो कल से उस सूर्यवंश के सूर्य राम अब उदय हुए उदिया चल से थोड़े दिन और रह गए गए धीरज ही धारो वैदेही जिस व्रत को अब तक पाला है आगे भी पालो वैदेही थक गई कष्ट पर कष्ट सहे संपूर्ण शरीर सुखाया है फिर भी है धन्य तुम्हें देवी तुमने पति धर्म निभाया है माता के विमल चरित्रों के पाए जब साक्षी त्रिजटा से पत्तों में छुपे दूत का तन पुलक उठा तब श्रद्धा से सीखो हे दुनिया की बहनों पति धर्म पति व्रत सीता से पति वियोग में जीवन रखना रहना इस भात तपस्या से पति के राज महल तज कर वन वन के संकट सहनायो बेपता छूट कर फिर पति से राक्षस के मुँह में रहनायो आखिर अब चिता बनाई है पतिव्रत पर आँच न आने दे बलिहारी भारत की देवी भारत की लाज न जाने दी अभी रात है इस समय कहाँ मिलेगी ज्वाल यह कहते जिता भी गई उसी अवसर को टाल सन्नाटा सब और था पत्ते थे शांत सम्मुख आधे चिता थी निरव निठुर नितांत नयन चिता के ओर थे मणि रघुबर की ओर हृदय सिंधु में बिरह के उठने लगी हिलोर पक्षी तन पिंजरे में रहन सका पक्षी तन पिंजरे में रहन सका चुपचाप रो रो कर से जानकी करने लगी प्रलाप